Gracias. सदात्मानमैक्षद आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् परासत्कामानयन्ति बालात् ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वम् विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते के दर्शन में परमार्थ के दर्शन में प्रतिबंधक क्या है तो इंद्रियों के द्वारा बहिर दर्शन में समासक्त हो जाना यही आत्मदर्शन में प्रतिबंधक है शीशे में परछाई दिख रही अब आप देख रहे कि शीशा कितना मोटा है फ्रेम कैसी लगी है उसमें परछाई कैसी पड़ी है ये बात देखने लग गए तो अपने आप को भूल गए कि देखने वाला मैं हूं ये बात दृष्टि में सर्वत्र देखने में आती है अगर आप एक चीज को ठीक ठीक देखना चाहें तो दूसरे की ओर से नजर हटानी पड़ती है अगर दूसरी चीज की ओर से नजर न हटावें तो पहली चीज नहीं दिखती है ये सर्वत्र आप घरे को देखने लगे तो कपड़ा ठीक नहीं दिखाई पड़ेगा और कपड़े को ठीक देखने लगे तो घड़ा ठीक नहीं दिखाई पड़ेगा घड़ी भी देखो और खुर्दबीन भी देखो एक साथ नहीं दिखेगा तो भोजन का खूब बढ़िया स्वाद भी बताओ कि अमुक अमुक चीज है इसमें ध्यान करके और संगीत भी सुनो दोनों एक साथ नहीं होगा ये ज्ञान का स्वभाव ही है कि वो एक समय एक वस्तु को ही ठीक ठीक प्रकाशित करता है तो जो लोग परिच्छिन्न वस्तुओं के दर्शन में लग जाते हैं मौसमी मौसमी ज्ञानी तो भाई ज्ञानी हो सिद्ध हो तो कैसे भी करे और जो जिज्ञासु हैं परमात्मा की ओर बढ़ना चाहते हैं वो यदि चुनाव के दिनों में चुनाव में लग जाएंगे और उस पार्टी की निंदा और उसकी स्तुति करने लगेंगे उनके लिए वही महत्वपूर्ण हो जाएगा कौन सा व्यक्ति चुना जाए होगा देश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु होगी चुनाव बड़ी अच्छी चीज होगी लेकिन यदि मनुष्य का मस्तिष्क उस काम में लग जाएगा तो फिर उतने दिनों के लिए ब्रह्म चिंतन को स्थगित करना पड़ेगा या तो फसली चीजों के बारे में मौसमी चीजों के बारे में सोचो ये छोटी छोटी चीज है तो इसकी छोटाई भौगोलिक दृष्टि से होती है जिला प्रांत राष्ट्र एक ब्रह्मांड अब तत्व ज्ञान की दृष्टि से एक ब्रह्मांड के बारे में विचार करना भी छोटी चीज का विचार करना है है ना किसी ब्रह्मांड किरण का विचार करना ब्रह्मांड में रहने वाली शक्ति का विचार करना वो भी छोटी चीज है क्योंकि ये अपरिच्छिन्न ब्रह्म जो है ये कोटि कोटि ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है तो इतनी बड़ी अनंत अपरिच्छिन्न परमात्म वस्तु परमार्थ वस्तु को जानना हो तो छोटी छोटी वस्तुओं की ओर से नजर हटाना पड़ता है इसमें क्या व्यक्ति है और क्या जाति है और क्या मजहब है और क्या संप्रदाय है, है? क्या अमुक काम है तो भौगोलिक दृष्टि से छोटापन होता है वजन से छोटापन होता है ऐतिहासिक दृष्टि से सौ दो सौ बरस के लिए कोई चीज होती है है ना बड़ा भारी सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है वही इस समय मर मिटोगे तो तुम तो मर मिटोगे और सांस्कृतिक जो गतिविधि है वो तो ज्यों से क्यों चलेगी तो ये सांस्कृतिक है और ये जाति है और ये वैयक्तिक है और ये प्रादेशिक है और ये दैसिक है, है ये भी है ये राष्ट्रीय है ये ब्रह्मांडीय है है ना इन बातों में अगर बुद्धि धंसने लग जाएगी तो छोटी छोटी बातों में बहिर्मुखता में बुद्धि का प्रवेश हो जाने के कारण अंतर वस्तु समझ में नहीं आवेगी तुम राजदेश के चक्र में पड़ जाओगे तो भाई हमको तो वही मजेदार है उसमें बड़ा मजा आता है बड़ा महत्वपूर्ण है क्या तो अच्छा जब तुम्हारी बुद्धि उसी को महत्वपूर्ण समझ के उसी में रमना चाहती है तो रमो खूब मौत से कभी कभी मौका मिले तो वेदांत की कथा भी सुन लेना तो <clears throat> देखना ये है कि बुद्धि बाहर के छोटे छोटे पदार्थों को दैसिक कालिक जातीय सांप्रदायिक है दैसिक सामाजिक राजनीतिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इन विषयों को बुद्धि पकड़ के बैठती है कि देखने वाला कौन है इसको जानने की जिज्ञासा होती है तो तस्मात कराम पश्यति नांतर आत्मन जो बाहर के विषयों को देखने में लग गया वो अंतरात्मा का दर्शन अपना दर्शन प्राप्त कर नहीं सकता ये मार्ग बड़ा विलक्षण है हाँ। बाह्य वस्तु में जिसके लिए मूल्यांकन है तो ये बहुत कीमती है ये ऐसे होना चाहिए ये ऐसे रहना चाहिए है ना नारायण तो बाह्य पदार्थ में मूल्यांकन हो जाने के बाद अपना मूल्य घट जाता है बोला अपनी कीमत घटाने का तरीका यही है कि बाहरी चीज का मूल्यांकन कर दो तो भाई आत्मदर्शन का उपाय क्या है आत्मदर्शन की युक्ति क्या है कच्चि धीर कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षुः अमृतत्वमिच्छन् चक्षु धीर आवृत्तचक्षु अमृतत्वमिच्छा कच्चि दृढ़ है आश्चर्यवत पश्यति वैरम आश्चर्यवत बदति तथैव चान्य आश्चर्यवत चिन्हमन्य श्रृणोति शुल्क्वाप्यनम वेद न चैव कश्चित कश्चित लाखों में एक हो देखो जब तक राज प्रधान चित्त होगा तब तक वो छोटी चीज में आसक्त हो जाएगा तो बस उनको तो यही चाहिए अब नंदे से शिशु को गोद में ले लिया और जैसे बदरिया जो है वो मुर्गे को भी चिपकायत करती है सुना होगा ना आपने बदरिया जो है वो मुर्गे को भी चिपकायत करती है वो तो इससे आप दुनिया की कोई नन्ही चीज अपने दिल से चिपका के हाँ, ये बेटा है ये पत्नी है ये धन है ये परिवार है है ना ये समाज है ये सब कल्पित है इसका मूल्यांकन जो है वो बिल्कुल कल्पित है सबसे ज्यादा कीमत तुम्हारी है तो अपने आप को तो भूल गए हो सबसे ज्यादा कीमती चीज तुम हो तो कश्चित का अर्थ ये है कि कोई कोई दुर्ला दुर्ला का मतलब ये है कि जिसके अंदर राग के संस्कार ज्यादा होंगे वो तो छोटी चीज को लेकर के आसक्त हो जाएगा और देश का संस्कार हो जाएगा तो ये कहेगा कि पहले अपने दुश्मन को मार लेंगे फिर वेदांत करेंगे ऐसे कहेगा उससे कोई कहे कि आओ जी है ना आओ जी थोड़ा वेदांत सुनो तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हो क्या चक्कर में पड़े हो संसार के बोले को नहीं महाराज पहले दुश्मन को हरा लेंगे अब एक बार हम उनको नीचा दिखा के पहले चुनाव में उनको हरा लेंगे तब वेदांत सुनेंगे और द्वेष होगा ना तो द्वेष ये नहीं कि व्यक्तिगत द्वेष हो सो बात नहीं है अमुक अमुक प्रकार की क्रिया से द्वेष होता है तो क्रिया करने वाले से भी द्वेष हो जाता है अमुक अमुक प्रकार की रहनी से द्वेष होता है तो उस रहनी से रहने वाले से भी द्वेष हो जाता है तो और किसी का लिपस्टिक से द्वेष हो ना वो नापसंद करता हो तो लिपस्टिक बहुत खराब चीज है और कहीं चुनाव का उम्मीदवार लिपस्टिक लगाने वाला हो तो झट कर देगा हम इनको वोट नहीं देंगे क्यों तो इसे लिपस्टिक लगाते हैं है ना ये बात क्या है कि जिस चीज को तुम नापसंद करते हो द्वेष है जिससे तुम्हारे हृदय में उस चीज को अगर सामने वाले ने देखोगे तो उससे विदेश करने लग जाओगे और जो चीज तुमको पसंद है वो चीज अगर सामने वाले ने वाले में देखोगे है ना तो उससे राग करने लग जाओगे तो कष्टित का अर्थ है कि जो राग द्वेष के चक्कर से छूट करके और परमात्मा को ढूंढने के लिए अग्रसर होता है उसमें तुम्हारी पसंदगी और नापसंदगी तुम्हारी संस्कार से आच्छन्न आक्रांत आकंदित आदत डाल डाल के जो तुमने अपनी बुद्धि बिगाड़ ली है उसका काम नहीं है परमात्मा के ज्ञान में उस संस्कार काटना पड़ेगा अब अंतरात्मा को देखने के लिए चाहिए तीन साधन पहली बात तो ये कही कि प्रतिबंध को छोड़ो बहिर्मुखता को छोड़ो अब तीन साधन बताते हैं धीरा तो कश्यप का अर्थ हुआ कि पूर्ण अपूर्ण के संस्कार से जो चित्त में रागत द्वेष है उसको छोड़ो आप देखो तो साधन की दृष्टि से बहुत बढ़िया होने पर भी तत्व ज्ञान की दृष्टि से जो प्रतिबंधक होता है उसकी एकाध चर्चा आपको कर देते हैं क्योंकि आप कभी कभी बड़े बड़े वेदांतियों के मुंह से सुनते होंगे ना तो आपके मन में आता होगा कि ये लोग भक्ति के विरोधी हैं उपासना के विरोधी हैं ऐसा आता होगा ना चित्त में अच्छा देखो राम ईश्वर है कि कृष्ण ईश्वर है कि शिव ईश्वर है तो आप यदि राम को ईश्वर मान के कृष्ण का विरोध करते हो और कृष्ण को ईश्वर मान करके राम का विरोध करते हो और शिव को ईश्वर मान करके राम कृष्ण का विरोध करते हो तो आपकी बुद्धि असल में संस्काराक्रांत है सत्य तो वो है जो दशरथ नंदन राम में वसुदेव नंदन कृष्ण में है और स्वयंभू शिव में एक तरीकी है वो सच्ची चीज है तो अगर उस सच्ची चीज से आपका प्रेम होता है तो एक के पकड़ के दूसरे के रूप में मौजूद सत्य का तिरस्कार नहीं करते नहीं विकृतम त्यजंती कनकस्य तदात्मतया माना कि आपको हार खरीदना है हार पहनना है लेकिन कंगन को घर में से निकाल के फेंक तो नहीं देते ना क्योंकि समझते हैं कि जो सोना हार में है वही सोना कंगन में है तो जब आप सोने की कीमत को समझते हैं तो हार और कंगन के लिए आपके मन में कोई राग द्वेश नहीं है इसी प्रकार ये विश्व सृष्टि जो मालूम पड़ रही है ना एक पर ब्रह्म परमात्मा में हो ये केवल मन से खींचे हुए रूप हैं ये स्वर्ग है ये नरक है ये मर्तलोक है ये ब्रह्मलोक है, है? ये केवल मणि राम ने संस्कार के कारण ये अलग अलग रूप खींच लिए हैं तो ये जो मूल्यांकन है इसको छोड़ो कश्चित अब तुम कश्चित हो गए माने अब तुम लाखों में एक हो क्या पूछना है, है? ये तुम्हारी सुंदरता देखो है ना अब तुम बाजार में चौपाटी पर फिरने वाले नहीं हो और तुम लाखों में एक हो क्योंकि तुम्हारे दिल में जो दुश्मनी के और मोहब्बत के जो मैल है मल है वो अब नहीं है तो इसी को बोलते हैं कष्ट अब दूसरी बात देखो तुम्हारे मन में मैल न हो लेकिन ऊपर से चोट तो पड़ेगी बाहर से कोई सीधे रास्ते चलने थोड़े देगा अगर वो समझ जाए कि इनके मन में किसी से राजा द्वेष नहीं है तो अपनी पार्टी में तुमको तो जरूर लेना चाहेगा तुम्हारे भोलेपन का फायदा जरूर उठाना चाहेगा शब्द स्पर्श रूप रस सब अपनी पार्टी में मिलाना चाहते हैं संदेश वियोग रोग अपनी पार्टी में मिलाना चाहते हैं तुम रोग कहेगा कि तुम अपने को रोग मान लो और किसी प्राकृतिक चिकित्सक के फंडे में है ना सात रुपए रोज का फलाहार करो है ना और दस रुपए रोज के कमरे में रहो हाँ और कहो कि सबसे सस्ती चिकित्सा प्राकृत चिकित्सा है हमारे मित्र हैं बहुत कई मित्र हमारे जिंदगी भर पानी में बैठ के पेड़ी पर तैलिया चुराना है ना और पाचन शक्ति अपनी नष्ट कर देना और <laughs> गेहूं तक नहीं सकता चावल तो बेचारे खा ही नहीं सकते वो तो कहते हैं चावल चीनी तो जाए है ना और घी घी मलाई तो उनके मुंह में जाए तो नारायण मर जाए और बोले भाई लेके तो पत्ती पत्ती खा रहे हैं आजकल आजकल हम्म, पालक की पत्ती खाते हैं हाँ पाचन शक्ति जो मनुष्य चित थी वो चली गई तो तब पैसे कहेंगे कि देखो हम बिना पैसे के अच्छा करते हैं ये हम वो उन उनकी चर्चा नहीं करते हैं हमारा उनके न प्राकृत चिकित्सा से हमारा मतलब है न होम्योपैथी चिकित्सा का मतलब है ये तो पार्टी वाले कैसे फंसाते हैं कि हमारा ही सबसे बढ़िया तो सोलह बरस की उम्र में जो रोग हुआ था उसको अस्सी बरस की उम्र में उमार उभार देंगे और उसकी दवा करेंगे और कहेंगे कि हमारी चिकित्सा सबसे बढ़िया हाँ? और रोटी खाने की शक्ति नहीं रहेगी पत्ता तबा के रहना पड़ेगा बोले हमारी चिकित्सा सबसे बड़ी सस्ती है तो ये कहने का अभिप्राय है कि अपना अपना ढंग जो है वो सबको प्यारा लगता है और जब तुम रागव द्वेश से मुक्त होने की कोशिश करोगे ना तब कम्युनिस्ट कहेगा कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ सोशलिस्ट कहेगा हमारी पार्टी में आ जाओ कांग्रेसी कहेगा हमारी पार्टी में आ जाओ है ननद कहेगी हमारे कहे अनुसार चलो भाभी कहेगी हमारे कहे अनुसार चलो सास कहेगी हमारे कहे अनुसार चलो माने एक बार जब तुम्हारी अहंता ममता राग वेश जब कम होने लगेंगे ना तो चारों ओर से हवा आएगी कि तुमको उड़ा ले जाए तो उस समय क्या करना चाहिए तो धीरा उस समय धीर होकर रहना चाहिए उड़ नहीं जाना चाहिए विकार सति सती जेषाम् न चेतांसित बहते हुए तूफान में बात में है जो अपने को बैठ के बचा लेता है आधी आए है और चलते समय उड़ने का डर हो तो क्या करना जहाँ का तहाँ बैठ जाना हो जब आधी खत्म हो तब वहाँ से चलना आधी में दौड़ने की कोशिश नहीं करना नहीं तो कुएं में गिरा दे तो जैसे हवा की आंधी आती है वैसे दुनिया में भी भावनाओं की आधी आती है ना भावनाओं भावनाओं की आधी जब जो आधी आती है सब यही चक्कर तो ओर तो पीठ करनी चाहिए सामना नहीं करना चाहिए दयार का ये ऐसे है ना जैसी भय दयार पीठ तो कैसी कीजिए पीठ से उसको रोकना चाहिए लीजिए सह लो तो जैसे मान लो बैठे और भूत की कोई बात याद आई बड़े जोर से बेग आया हमारे पास ऐसा धन था ऐसा दोस्त था है ना ऐसा मकान था ऐसा बड़प्पन था ऐसा प्यार था हाय हाय अब उसके बिना हम मर रहे हैं तो आप ये नहीं समझना कि सचमुच आ गया थोड़ी देर के बाद जब भूख लगेगी ना तो वो सब पिछली बातें सब भूल जाएंगे और आप रोटी नमक में लग जाओगे वो बिल्कुल जैसे सोते समय सपना दिमाग में आके कुरकुराता है वो इसे जागते समय तुम निकलने बैठे हो इसलिए पिछली बातें याद आके तुम्हें परेशान कर रही है धीरा उनमें धीर रहो अरे पहले हम ऐसे थे पहले ऐसे थे ऐसे स्वस्थ थे ऐसे जवान थे ऐसे पहलवान थे ऐसे सुंदर थे एक बार याद आइए बोले फिर वैसे ही सुंदर बनो अगर बनने के चक्कर में पड़ जाओगे तो बन नहीं सकते बोला सिर हाँ। के एक एक बाल निकाल के फेंक दो तब भी सब बाल अब काले नहीं रहेंगे रोज सफेद निकलेंगे बोला हाँ ये झूठी बात है अच्छा कभी भविष्य की कल्पना आई हमको छह महीने बाद ये करना है ये बेग आया तो तुम ये नहीं समझना कि आज जो बेग आया है ये छह महीने तक बना रहेगा अरे वो तो घंटे आठ घंटे में ढीला करेगा फिर दूसरा देर आएगा फिर तीसरा देर आएगा ये तो सपने पर सपने आते जाते रहते हैं धैर्य से है ना जैसे सिनेमा के पर्वे पर आने वाले दृश्यों को देखते हो और मिट जाने देते हो वैसे मन के पर्वे पर दृश्यों को आने दो और मिट जाने दो उनका मूल्यांकन मत करो ये बिल्कुल सुरखुराहट है एकदम स्वपूर्वक है इसकी कोई कीमत है ना इसकी कोई कीमत नहीं है तो धीरज का अर्थ है ये नहीं कि अच्छे ही अच्छे आवे ना ये जो कोशिश करता है ना कि हमारे मन में अच्छे अच्छे आवे उसको भी बड़ा दुख होता है और जो ये रोता है कि हमारे मन में बुरे क्यों आ गए तो वो भी बहुत दुखी होता है अरे बाबा सपने पर कोई नियंत्रण जैसे नहीं रहता है ना सपना कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है वैसे ये जो मनोराज्य होता है ये अनियंत्रित मन में ही मनोराज्य होता है है ना अरे आई धारा बह गई आई धारा बह गई गंगा जी में कभी फूल माला बह गई कभी मुर्दा बह गया है ना कभी किसी ने दूध चढ़ा दिया और कभी किसी ने थूक दिया ये दोनों दृश्य जैसे गंगा जी में आते हैं ऐसे अपने मन में भी दोनों ही प्रकार के दृश्य आते हैं कभी दुश्मन पर पुरा गया कभी दोस्त पर पुरा गया है? कभी ये आया कभी वो आया अब ये कहोगे कि हमारे मन में आया तो हमारे मन में ऐसी चीज ये तो पहले ठाकुर साहब लोग थे ना तो अपने दरवाजे पर कलम पर बैठे रहते हो हुक्का जो बुलाते और किसी अछूत के घर में ब्याह था तो उसका लड़का घोड़े पर करके निकला उन्हें एक ट्रेन जा रहा है घोड़ा कर तो वह मुख अछूत है महाराज पकड़ कर गया तुम हमारे दरवाजे के सामने से घोड़े पर चढ़ के निकलते हो और लेके जूता मारने लग गए तो उस जमींदार की जैसी मनोवृत्ति थी ना वैसी मनोवृत्ति उस साधक की है जो मन में कोई खराब बात फुरफुराई गई और लेके जूता उसको मारने के लिए दौड़ा तो एक तो वो मनोवृत्ति आई और दूसरे जूता जूता लेके आए दौड़ा धैर्य रखो तुम्हारा जो ज्ञान है वो स्वच्छ है वो निर्मल है वो निर्विषय है वो निर्जन है वो अविनाशी है वो परिपूर्ण है ये जो तुम्हारे ज्ञान है तुम्हारा जो ज्ञान है ना ज्ञान स्वरूप इस पर इस दृश्य की कोई छाप छूटने वाली नहीं है ये आवेगा और अपना तमाशा दिखा के बह जाएगा तुम काहे को तो परेशान होते हो इसको धैर्य बोलते हैं हो बाहर कोई मरे चाहे जरे चाहे कोई आवे चाहे जाए चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो बाहर और मन में है, चाहे कैसा भी सपना आवे और कैसा भी मनोराज्य हो उसको मनोराज्य मात्र समझो उसको स्वप्न मात्र समझो उसको ये मत समझो कि तुम्हारे कलेजे में पहाड़ घुस गया तुम्हारे कलेजे में बाहर घुस गया ये मत समझो हल्के हो उधर से तो हल्के रहो अपनी जगह पर बैठे रहो धीरा कश्चित धीरा तो राजद देश छोड़ करके और जो बाहर या भीतर जो परिस्थितियां आती जाती हैं उनकी ओर से है ना उन, उनकी चोट से बच के धीर होना माने हाँ उनकी चोट मत लगने दो अपने ऊपर अरे आया आया गया गया हो ना मर गया मर गया सारा चला गया चला गया क्या आया आया और ये बात सबके लिए जैसे सत्य बात करने वाले को लाख रुपया आया कि लाख रुपया गया इसकी चोट कलेजे पर ज्यादा नहीं लगती नहीं बचती है ना ऐसे ये जो दुनिया का जो सच्चा हो रहा है अरे ये जीवन है एक तरह का है ना इसमें लाख रुपए आने और लाख रुपए जाने की चोट मत लगने दो अपने चित्त पर निर्भय होकर चलो तो दो बात हुई तो राग द्वेष से विनिर्मुक्त और एक जैसी परिस्थिति सृष्टि में आए उसको धैर्य पूर्वक सहना और तीसरी बात क्या है कि आवृत्त चक्षु आवृत्त चक्षु क्या है आवृत्त चक्षु नहीं है वो एक डबल सौ वाला वृत्त होता है ना ये डबल सौ वाला है और एक सिंगल सौ वाला होता है, है? आवृत चक्षु आवृत चक्षु वृत आवृत और वृत सौ डबल सौ तो ये डबल सौ वाला है तो यदि एक सौ होता तो उसका अर्थ क्या होता आंख बंद करना आवृत हूं आंख बंद करके सकते लेकिन ये एक तौ वाला नहीं है डबल तौ वाला है इसलिए यहाँ आवृत्त कक्षों का अर्थ है आंख को उलट लो आवृत्त चक्षु दुनिया में सब लोग दूसरे को कीमती मानकर उसके पीछे दौड़ रहे हैं तुम चरण दास गुरु कृपा नहीं उलट गई मोरी नैन पुतरिया तुम बेटे के पास पीछे पीछे मत घूमो बेटे को अपने पास आने दो उलट दो तो सेवक को सेवक समझो उसको मालिक मत समझो ये जो हाथ है पांव है इंद्रियां हैं मन है बुद्धि है ये तुम्हारे सेवक हैं अवृत्त चक्षु का अभिप्राय क्या है कि आख आदि इंद्रियां जो हैं वो अपने गोलक को छोड़कर जो विषय देश में चली गई है हमारे विषय चिंतन में संलग्न है ना उनको थोड़ी देर के लिए फूल की तरह रख लो जहाँ के तहा दो गुलाब के फूल रखे हुए हैं देखो तुम्हारे दोनों ना, नाक के नाक के दोनों तरफ दो गुलाब के फूल रखे हुए हैं आ, हाँ, दोनों कनकटी हैं अच्छा दो कैसे कनेर के फूल रखे हुए हैं ये फूल इनको जब देखोगे है ना तो ये इंद्रिय पना छोड़ करके विषय हो जाएंगे आपको देखो ये आपकी युक्ति बताते हैं इंद्रिय को इंद्रिय मत रखो इंद्रिय को विषय कर दो आवृत्त छोड़ ये खोल जो है ना शरीर की खोल जिसके भीतर हड्डी मांस चाम वृक्षा वस्त्र भरा हुआ और ये चाम चाम की खोल पहनाई हुई है ना चाम की खोल हाँ इसमें ये आख के छेद कान के छेद नाक के छेद मुंह के छेद ये त्वचा के छेद जो है है ना इनको एक बार खोल मात्र रह जाने दो है ना इनसे एक होकर के दुनिया को मत देखो इनसे भीतर होकर इनसे अलग होकर इनको देखो तुम आंख से देखते हो इसकी जगह तुम आंख को देखो तुम मन से देखते हो इसकी जगह मन को देखो तुम बुद्धि से देखते हो इसकी जगह बुद्धि को देखो आदृत चक्षु आवृत चक्षु चक्षु माने जो ज्ञान शक्ति अपनी है उसको आवृत करो निवृत्ति परायण हो जाओ जो जहाँ है उसको वहीं रहने दो वहीं रहने दो नारद ये संन्यास है वो ये अंतर्दृष्टि है ये प्रदीप्त ज्ञान दृष्टि है औजार के साथ जितना एक नहीं हो जाना देखो आप पर किसी की मंदी होती है किसी की तेज होती है किसी की एक होती है किसी की दो होती है है ना किसी की एक किसी की दो किसी की मंदी किसी की तेज कभी खुली कभी बंद लेकिन तुम आंख से न्यारे हो कि नहीं हो मान दिय पटुक्वेशु नेत्र धर्मे स्वने कथा नेत्र धर्म जो है अनेकता अंधापन है मंदापन है पशु कला है आंख में अनेक धर्म है तुम एक हो कि नहीं तो तुम वही एक हो के रहो अपने को काना मत समझो अपने को अंधा मत समझो अपने को पटु मत समझो है ना आंख छोड़ के आंख में बैठो आवृत्त चक्षु कार्य विषय को प्रकाशित करने वाले ज्ञान के रूप में तुम बैठो परंतु विषय को प्रकाशित मत करो विषय का ख्याल छोड़कर अपने स्वरूप में बैठो आदृत्य चक्षो बोले अच्छा भाई अब तो आत्मज्ञान हो जाएगा कि तो नहीं इसके लिए एक और चीज है ये असल में कश्चित में तो परंपरा साधन का ग्रहण है और धीरा और आदृत्य चक्षु में अंतरंग साधन का ग्रहण है बोला बहिरंग साधन का ग्रहण है बहिरंग साधन धीरा और आदृत चक्षु इनमें व्यवहार अवस्था में धीरा है और साधन दशा में आदृत चक्षु कस्टित अधिकारी धर्मानुष्ठान के द्वारा अंतकरण को पवित्र करके और धीरा माने बाह्य परिस्थितियों से विचलित न होते हुए और आवृत्त कक्ष हमारे निर्विषय ध्यान से निर्विषय चिंतन में बैठ जाओ बोले अब मिल गया परमात्मा करना अब अंतरंग साधन प्रारंभ होगा तो अंतरंग साधन क्या है कामृतत्व अमिच्छा अमृतत्व क्या है इसका श्रवण अमृतत्व क्या है इसका मनन अमृतत्व क्या है इसका निविध्यासन ये इच्छन पद जो है ना अमृतत्रेष्ठा ये अखाते ब्रह्म जिज्ञासा में जो चाह है ना वो इच्छा के लिए तो चाह है ना जिज्ञासा में ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा वो जो वहां सन है हम करते हैं वो इच्छा के अर्थ में है तो वहाँ जिज्ञासा माने विचार होता है अमृतत्व में तो क्षण अब अमृतत्व का विचार करो कि असल में अमृतत्व क्या है देखो बाह्य परिस्थितियों में यदि अपने चित्त को शांत नहीं रखोगे तो वेदांत का विचार नहीं कर सकोगे तो अमृतत्व क्षण अब जरा अमृतत्व क्षण की बात आपको सुना देखो एक महात्मा की कथा आती है उपनिषद में उनके दो पत्नी थी और बुलाया उन्होंने मेरी मैत्री इधर आ कात्यायनिया अंतन तय करवाणी मैं धन संपत्ति का बंटवारा कर देता हूँ आधा तुम ले लो और आधा कात्यायनी ले लेगी है ना प्रभ्रजिष्यन नाम अपनी मैं संन्यास ग्रहण करूंगा तुम दोनों बांट लो मैत्री ने पूछा कि क्यों महाराज ये जो आप धन देंगे उससे हमको अमृतत्व की प्राप्ति होगी देखो ये उपनिषद में कथा है हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे तो उन्होंने कहा कि अमृतत्व से तो नाशास्ती दिखते ना धन से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती तो गुप्त शब्द संस्कृत का बड़ा विलक्षण है ऐसा ऐसे कुछ खास ही शब्द है असल है भिन्न विदित और वित्त वित्त है ना धन का वाचक शब्द है लेकिन ये विदित के अर्थ में भी होता है विदित के अर्थ में भी वित्त शब्द बनता है ऐसा जो कुछ दृश्य है दृश्य को तो अगर पकड़ोगे तो तुम अमर अमृत हो ये ज्ञान कैसे होगा मैं अमृत हूँ ये ज्ञान होने के लिए दृश्य की पकड़ अपेक्षित नहीं है दृश्य की दृश्य की पकड़ खोलोगे तब न दृष्टा का ज्ञान होगा तो उस देवी ने क्या कहा था वो अमर वचन है वो उसका उपनिषद में हाँ, अमर वचन है क्या ये ना हम श्याम किम तेन कुरिया देवी ने कहा कि जिससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी वो धन लेकर मैं क्या करूंगी ये वित्त के द्वारा मनुष्य को तृप्ति नहीं मिल सकते वित्त के द्वारा तो मनुष्य के मन में परमा परमात्मा इनकी प्राप्ति की इच्छा इनकी प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान आवृत चक्षु अमृतत्व अमृतत्व शब्द में दो बात तो है ना क्या एक तो अविनाशी होना जो मृत न हो तो अमृत तो अमृतत्व में एक तो अविनाशित्व है और दूसरे अमृत माने जो अमित हो ना हर जगह हो सब अवस्था में प्राप्त नहीं होगा तो अमृत कैसे होगा सब स्थान में हो सब काल में हो और अमृत माने रसमय हो परमानंद स्वरूप हो तो यदि तुम ये चाहते हो कि हम अविनाशी हों हम परिपूर्ण हों हम परमानंद स्वरूप हों यदि ऐसा चाहते हो तो अमृतत्व तो मिच्छन आओ वेदांत का श्रवण करो मनन करो निधिध्यासन करो ये विभाग दूसरा है ये निवृत्ति परायण लोगों का अफल में है ना ये कोई सामाजिक या राजनीतिक या राष्ट्रीय या सांस्कृतिक आंदोलन नहीं है ये तो जो शुद्ध आत्म तत्व का जिज्ञासु है उस जिज्ञासु के लिए आत्म तृप्ति है ना आत्मतुष्टि आत्ममुक्ति जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख देने वाला जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख देने वाला पदार्थ है तो अमृतत्व मिथन होने तो की जो लोग महाराज और तुलना करके बताते हैं छोटी छोटी चीजों में लगते हैं उनकी क्या दशा है कराच कामान अनुयंती बाला ते मृत्योर्यंती वितत पाशम अथ धीरा अमृतत्व विदित्वा ध्रुव मध्रुवेश न प्रार्थयते परातः कामाम् अन्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वम् विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते कामान् अन्यन्ति बालाः देखो ये जो बालक हैं ऐसा नहीं कि जिनके दाढ़ी मूछ नहीं सो बालक अपरिच्छिन्न आत्म वस्तु के ज्ञान में अनुभव में रुचि न हो करके बाह्य पदार्थ छोटे मोटे खिलौने टूटने फूटने वाले हैं उन्हीं से खेलने में जो लगे हुए हैं वो बालक हैं संस्कृत भाषा में बालक शब्द जो है वो विलक्षण ढंग से प्रयुक्त होता है जब न्याय शास्त्र पढ़ने लगते हैं तब ये कहते हैं कि खूब व्याकरण पढ़ा हो साहित्य खूब पढ़ा हो मीमांसा पढ़ा हो परंतु न्याय शास्त्र न पढ़ा हो तो वो बालक है बाला नाम सुख तो दूर आयो क्रियते तर्क संग्रह अभीत आदि शास्त्रों के अनभीत न्याय शास्त्रों बाबा और और यदि व्याकरण करने जाए तो हाँ। तो बोले कि भाई न्यायादि शास्त्र का अध्ययन किए हुए हो और व्याकरण न पढ़ा हो तो, तो बोले बालक जो जिस विषय में अज्ञ होता है वो उस विषय में बालक होता है अज्ञान ही बालक का लक्षण है है ना? अब देखो कोई अनुबम की चर्चा चले तो उसकी जानकारी में हम लोग तो सब बालक है ना और डॉक्टरी की चर्चा चले इंजीनियरिंग की चर्चा चले हम परिच्छिन्न विद्या के आचार्य नहीं हैं है हम अपरिच्छिन्न विद्या के आचार्य हैं हमारा ही विद्या विभाग है हम इसी के प्रोफेसर हैं बोला जो इसका अध्ययन करना चाहते हैं स्वाध्याय करना चाहते हैं है ना उसकी प्रणाली से उनको समझा सकते हैं बोले नहीं महाराज आप कर्तव्य हो राकेट कैसे बनाया जाता है या चंद्रलोक में कैसे जाया जाता है तो बताओ है? हाँ? बोले नहीं भाई जिसमें जाना आना नहीं है वो चीज हमसे पूछो है? हाँ? जिसमें जाना आना है वो तो तुम खुद ही बहुत जानते हो और एक हमारे गांव के पास थे ठाकुर साहब बड़ी प्रभावशाली तेजस्वी से देते थे हम अपने स्वभाव से प्रज्वलित थे जब मैं कभी वो भी कम जाते आते थे हमारे यहाँ तो कभी बरस में एक आध बार दो बार आते होंगे हम उधर से निकलते बाबा जी देखो बोले कि बाबा जी अगर बेईमानी की बात सीखनी हो आपको तो हम सिखाएंगे आप सीखिए ऐसे बोल करके वृद्ध थे और ईमानदारी की बात अगर आप कोई हमसे कहना चाहते हो तो आप बताइए <laughs> क्योंकि आप ईमानदारी के विषय में जानकार हैं हम बेईमानी के बारे में जानकार हैं ऐसे कहते हो जिसको कहो उसको पकड़ दे जिसको कहो उसको रिश्वत दे दे जिसको कहो उसको जेल में डलवा दे ये हमारा काम में साहब की बात कर रहे हो तो आप बताओ आप तो वेदांत की चर्चा जो है ना पराचक कामान अनुयंती वाला आहा ये जो पराक काम है बाहर दिखने वाले पदार्थ हैं और इनके बारे में जो इच्छा है ये ऐसे हो ये ऐसे हो ये ऐसे हो ब्रह्मा जो है वो हर सृष्टि में लाल ही होता है ये कोई नियम नहीं है भला किसी सृष्टि में ब्रह्मा सावरा भी होता है और किसी सृष्टि में ब्रह्मा सफेद भी होता है कभी विष्णु ही ब्रह्मा होता है और कभी ब्रह्म ही विष्णु होता है इस सृष्टि में इतना कभी जगो कभी धारी का नाम सूर्य होता है सृष्टि में बोला और जंगलोपवीत रहित का नाम ब्राह्मण होता है ऐसी ऐसी सृष्टि होती है, है? जब देवता लोग काकाल में रहते हैं और दैत्य लोग स्वर्ग में रहते हैं ये पुराणों की कथा जो है ये अद्भुत ये मैं जो बोल रहा हूँ ये पुराने शास्त्रों में लिखी हुई बात बोल रहा हूँ ना आप भूसंद प्रसंग पढ़े योग वापस का भूसंद उपाख्यान करें का आख्यान कैसी कैसी सृष्टि भूसंद जी ने देखी है लोमस ने कैसी कैसी सृष्टि देखी है एक परमात्मा ही दूसरा नहीं होता है और सब बदल जाता है और कौन परमात्मा का अपना आत्मा और अपनी आत्मा का ही नाम परमात्मा है ये दूसरा नहीं होता और बाकी सारी सृष्टि बदल जाती है तो छूटने वालों से क्या मोहब्बत है हाँ, अच्छा अब कल सुना